अच्छा श्लोकों को हम लोग देख रहे थे टीका में निष्क्राम्य नासा विवरात अशेषम प्राणम बहिशून्य मिवानिलेन निष्काम्य नासा विवर नासिका का छिद्र से अशेषम प्राण समस्त प्राण को निष्काम्य बाहर करके वही निष्क्राम अनिलेन शून्यमिव मानो कि पेट में छाती में संपूर्ण यह श्वास नली तक शून्य के समान हो निरुद्ध संतिष्ठ तिरुद्ध वायो सुरेच को नव महानिरोध इस प्रकार करके निरुद्ध संतिष्ठती निरुद्ध वायु ऐसे वह अवरुद्ध जो बाहर में रुद्ध वायु रोक दिया गया वायु है ऐसी स्थिति होने का नाम क्या है वेचक नाम का महानिरोध है बाह्य स्थितम पुटे न वायु अब बाह्य स्थित वायु को ग्रहण न वही नासिका चित्र के द्वारा आकृष्ट धीरे धीरे शनि ही आकृष्ट तेन उसी ग्रहण पुट के द्वारा जिन नासिका चित्रों से छोड़े थे उसी से लेना है विपरीत नहीं जिससे छोड़ा उसी से लिया जाए तेन घ्राण पुटेन शनि और क्या करना समन्ता पूर्ण रूपेण सर्व्याप्त करता कहा नाड़िश्च सर्व सपूर को नाम महानिरोध सर्वानाड़ी ही समस्त नाड़ी अंग पूरा करना भर देना उसका नाम पूरक नामक महानिरोध है न रेचको न पूरको यत्र और अतरा जहाँ पर जब रेचक भी ना हो पूरक भी ना हो ना सा पुटे वायु जो वायु पेट में आ गया भर गया और जो है वक्षस्थल में भरा हुआ है नासिका तक भरा पड़ा है वो जो जैसा वही रोक दिया धारयति क्रमेण कुंभाग्यमी तत्प्रवदंती तज्ञा इसी को महान योगी जन जो इसके रहस्य को जानने वाले इसका नाम क्या रखते हैं कुंभक नाम से कहती हैं इस तरह से बृहद योगी याज्ञवल की स्मृति में ये बात कही आठवें अध्याय का इक्कीसवा श्लोक उनतीसवा श्लोक और बीसवें श्लोक आगे पीछे का लेकर के क्रम दिया हुआ है अच्छा इसका फल के बारे में भी और इसको सिद्ध कैसे करना है प्राणायाम प्राणायाम को कैसे किया जाए चले वहां कहा था ना आसन की सिद्धि कैसे की जाती है प्रयत्न शैतिल्याद अनंत समापत्ति प्याम ये कहा था पर कोई सूत्र तो बनाए नहीं काल आदि से दृष्ट होकर के धीरे सूक्ष्म हो जाएगा कब होगा कैसे होगा तब का उपाय जो सिद्ध करने का बताया है महाभारत के शांति पद तीन सौ एक अध्याय संख्या सत्तावन श्लोक में पंचम श्वासम अल्पाहार नृप ये नृप अल्पाहार के मतलब अल्पाहार का मतलब गीता को देखो थोड़ा खाना शब्दार्थ में निकलता है थोड़ा खाना थोड़े का मतलब कितना होता है किसी के लिए दो किलो थोड़ा है किसी के लिए सौ ग्राम थोड़ा है <laughs> इसलिए समझना पड़ेगा तो गीता से युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसो युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवती दुख कहा सकल दुखों का नाशकारी योग तब होता है जब आप युक्त आहार वाले होंगे आहारियम यदि आहार न तो भोजनादिकम एवं सर्वेंद्रिय विषयाणी करता है सकल इंद्रियों का तत्व विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द तो को लीजिए यही विषय ही हमारे लिए आहार है इन विषयों को और अहंकार के आहार तो सबसे खराब आहार है उसको भी बहुत सतर्कता पूर्वक सम्यक प्रकार से उसका उपभोग करना चाहिए बस उसको कहते युक्ता युक्त भी है घूमने फिरने के मामले में किस दिन चल पड़ा दस किलोमीटर किस दिन बैठा ही रह गया ये नहीं चलता रोज जाओ सवेरे शाम जाओ कोई आपत्ति नहीं एक नियत रूप से चलो और एक आदमी चलो छुट्टी मिल गया थोड़ा आगे चले जाओ रहा कोई आपत्ति यानी कि बीस किलोमीटर चल दिया छुट्टी का दिन कर दिया फिर बाद बिस्तर पकड़ लेगा वो हर चीज का संयम के साथ युक्त आहार युक्त विहार विहार से वह सब लिया केवल घूमना फिरना नहीं खेलना कूदना वो भी ले लिया सकल कर्म इंद्रियों का विषयों को विहार सबसे आहार सबसे सकल ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण का विषय को लिया गया और विहार शब्द सकल कर्मेंद्रियों का विषय को लिया और शास्त्र हितों को लेकर दिया युक्त चेष्ट सो शास्त्र विद कर्मों को भी करना है तो उसमें भी थोड़ा सोच समझ करके संयम के साथ चेष्टाओं को करनी चाहिए छात्र अगर गंगा जी में स्नान करनी चाहिए सवेरे दोपहर शाम ठंडी में जाके नहा रहा है तो क्या होएगा सीमा है गंगा जी में नहाओ मना थोड़ी है लेकिन शरीर का ध्यान दो शरीर माध्यम खल धर्म शरीर ही खराब हो जाए फायदा क्या ऐसे भी एक महात्मा था एक ब्रह्मचारी पीला पीला वस्त्र में रहता था यहाँ पे पीला पीला हो गया अंचल विचार हाँ। मना करने पर ये मानते रहते नहीं आप नहीं नहाते तो हम नहाएंगे बोलते भाई भाई नहा ले भाई तो बहादुर है नतीजा ये हुआ श्वास और दोनों रास्ते सामने से ये दोनों आगे पीछे दोनों रास्तों से पीरियाज छह होने लग गया इतना बुरा हालत हो गया कि इसकी ना उठाया जाए न बैठा जाए ना बोला जाए नारायण नारायण वही है जो नारायण नारायण बोलता है वही उसी की कहानी हम्म। कई जगह गया कई दवाया की और आज तक पूर्णतः तो तो स्वस्थ नहीं हो सका पढ़ाई भी छोड़ क्या साधन इसलिए हार विहार विहार है स्नान आदि भी है युक्त करो उसमें भी है संभव है जितनी संभव उतना करो शरीर को देखो कितना बर्दाश्त कर पाते तप भी करना है तो शरीर का नाशक तप मत करो शरीर का पोषक तप भी नहीं खूब खाया पिया वो भी तप ही है उधर अभी इधर भंडारा खाना कोई साधारण तप है क्या नहीं शरीर का पोषक तप भी ठीक नहीं शरीर का नाशक तप भी ठीक नहीं शरीर का संयमित करने वाला तप की अपेक्षा उसको वहां पर युक्त चेष्ट से कर्मसो और उसके लिए कहते हैं आगे युक्त बोध से ज्यादा जागृत रहना भी ठीक नहीं तो ज्यादा सोना भी ठीक नहीं माता सोना और अवबोध का मतलब आता है जगना युक्त बोध से उसी व्यक्ति योगो भवती कहा और दूध पीना है योग योगी के लिए दूध अति आवश्यक है लेकिन विशुद्ध दूध नहीं हम मिलता भी नहीं तो आजकल के जमाने योग के लिए अच्छा है तेरे तो, को अपहपिता पयो मिश्रा उसी शांति पर में कहा अपहपिता पयो मिश्रा पयो मिश्रा अप दूध नहीं पीना जल पीना है तो दूध मिला करके दूध में जल मिलाना ये बढ़िया कि जल में दूध मिलाना बढ़िया है आप ये समझेंगे दूध में जल मिलाना पड़ेगा ये कहते नहीं पयो मिश्रा अपा दूध मिलाना है जल में जल में दूध नहीं मिलाना हाँ ज्ञानी को है शुद्ध दूध खाटी दूध पिएगा भैंस का और बड़ा होगा पेट ये तो मुक्त हो गया ना उसको तो पेट पड़े घटे से क्या फर्क योग से लेन देन है ताप पिता पयो मिश्रा शांति पर 300 अध्याय श्लोक संख्या 45 में कहा इस प्रकार से विभिन्न प्रकार कथन करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात और आगे कहते हैं बृहद योगी व्याख्यवल की आठवीं अध्याय का दूसरा श्लोक बहुत सुंदर गहराई देती है अरविंद प्रणवाम गायत्री शरसा सह त्रिः आयत प्राण प्राणायाम स है वो प्राणायाम का बहुत सुंदर लक्षण कर रहे हैं कि नित्य संध्या में इसे तीन बार कम से कम करने बोला है प्राणायाम ये बता रहे सव्याहृति सब प्रणवा भी प्रणव सहित व्याहृति केवल एक दो तीन नहीं ओम भूर्भुस्वा नहीं ओम भू ओम भुआ ओम स्वा सातों व्याहृति लेना ओम के साथ गायत्री शिरसा सह शिरसा मने उसकी चौथा पाठ से वेद शिर किसको कहते हैं ज्ञान का गायत्री शिर उसका चौथा पाठ जो सामान्य रूप में जपते नहीं थे सन्यासियों का अधिकार होता है मानव प्रस्थि वगैरह का अधिकार उसको कह रहे हैं ओ, आ, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म पूर्व स्वरों में अंतिम जब पाद उसको शिरा वो गायत्री का सिर के वो सिर सहित रहित ही जब करना है सभी को लेकिन यहाँ सिर सहित करना ही योगी को ब्राह्मण क्षेत्र में सामान्य को कहा वो सिर सहित कर प्रचोदया तक ही करना ओम पूर्वो से प्रचोदया तक ही सभी को ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे वान हो सभी के तीन पाद के अधिकार है चौथे पाद योगी और ज्ञानी सन्यासी को अधिकार है ज्ञानी विविध शुरू ब्रह्मज्ञानी नहीं जिसका अनुभव हो गया वो नहीं परोक्ष ब्रह्मज्ञान वो भी जब कर सकता है त्रिगंधी आदि जो होते सन्यासी जिनका जन्म छोटी भी हुआ करता है उन सभी के लिए केवल अधिकार होता है चौथे पाल का यदि धर्म संग्रह पुस्तक पढ़ोगे उसे विस्तृत रूप में जानकारी इस विषय में मिलेगा त्रिपठेद आयत प्राण तीन बार आयत प्राण वाले सीमित प्राण वाले होकर के तीन बार पाठ करना है इस मंत्र उसी का नाम प्राणायाम बिना मंत्र का प्राणायाम को नहीं मानते हैं बृहद योगी अज्ञल सगर्भ प्राणायाम को ही महत्व दे रहे हैं निगर्भ प्राणायाम को स्वीकार नहीं कर रहे इनके हिसाब से बिना मंत्र का केवल प्राणायाम स्वीकृत नहीं मंत्र भी आगे न दिया इसलिए ओम भूम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सतत्सुतर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात ओम महापो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भस्वरोम संपूर्ण मंत्र इसको हमने यूं ही पाठ कर दिया क्योंकि करना नहीं चाहिए सबके सामने बिना गुरु शिष्य को ही कान में फूकने वाली चीज है ना ये हाँ, इसीलिए हमने यूं ही पाठ कर दिया गद्य पर गड़बड़ गड़बड़ नहीं गड़बड़ गड़बड़ तो धड़बड़ भागा और गड़बड़ करा इसके विधिवत उच्चारण होनी चाहिए सम्यक उच्चारण के साथ स्वरों के साथ उच्चारण होता है स्वर सहित पाठ हो और तीन बार पाठ करें उतनी देर तक आपको एक चक्कर प्राणायाम पूरा करना है तीन बार सव्यारदी सप्रणव सशिस्क गायत्री का जाप के साथ संपूर्ण एक प्राणायाम जो होता है उसका नाम ये प्राणायाम होगा कितनी करनी चाहिए उसका भी वर्णन करते हैं कूर्म पुराण में यानी लिव पुराण में नीचो द्वादश मात्रस्तु सकृत उद्घात ईद मध्यमस्तो दुर्घात चतुर्विंशति मात्र कह दो सौ छिहत्तर प्रश्न में मुख्यस्तु उद्घात मात्र उचित नीच प्राणायाम वो है जो बारह मात्राओं वाला होता है द्वादश मास्त्र तो सकृत उद्घाट उद्घाट का भी लक्षण बताऊंगा वही नीचे दे रहे हैं उसको एक उद्घाट वाला कहेंगे जिसमें बारह मात्राओं का प्रयोग करता हुआ आप एक गायत्री को कर दिए मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा गया है वहां स्पीड से बोल रहे हैं गायत्री को जैसे रुद्री पाठ करते ना पंडित भी कभी कभी तो आराम से कर तो पहले शिवरात्रि के दिन आप देख सकते इस विषय की है पंडितों की पहली जो रुद्री होती है बढ़िया ढंग से प्रेम से धीरे से बोलते बारह बज गया अरे अब और तीन पट बाकी है कट कट कट कट कट इतनी तेज भागेंगे आधे घंटे में निपटा दिया पहले बार में तीन घंटे लगाए फिर दूसरे वाले में आधे पौन घंटे निपटा देते पर बढ़ा नहीं तो वो नहीं और जो अधिक स्पीड से करते अधिक वेग से जो करते हैं उसमें मात्राएं जरूर ना आप खा जाओगे कुछ अंदर रह जाता है कुछ बाहर आ जाता है वो नीच प्रक्रिया है अधम कोटि का मंत्रोच्चारण पूर्वक प्राणायाम मध्यम कोटि का दुरुद्घात हो इसमें चौबीस मात्राओं का प्रयोग हो और मुख्य वह है त्रिरुद्रात वाला छत्तीस मात्राओं संपन्न मात्रा का लक्षण क्या है जानु प्रदर्शनी कुरिया न द्रुतम न विलंबितम प्रदत्या काम यावत तावन मात्रे गीयते क्षण का लक्षण और मात्रा लक्षण थोड़ा तो मात्रा बड़ी है क्षण छोटी है क्षण क्या कहा था निमेश क्रिया के एक चौथाई अंश बहुत छोटी मात्रा क्षण इन मात्रा बहुत बड़ी समय का अवधि का काल को कहते हैं जिसमें आप आराम से गप मारते मारते अपने घुटनों पर जो है हाथ घुमाते हुए किया एक चक्कर घुमा वापस शुरू किया छोटी से यानी जो ऊपर का डी होता है शुरू यहाँ से किया और घूमते घूमते वहीं आकर के रुक गए जितने समय इसके लगता है उसका नाम एक मात्रा होती है जान प्रदक्षिणी कुरिया जान को प्रदक्षिणा कराइए न द्रुतम न विलम भेदम जान के करके क्यों करके तुरंत घुमा दिया ऐसा नहीं और धीरे घुमा रहा है देखिए नहीं ये बात कहीं और भाषणबाजी हो रही है पहले जमाने पंडित लोग करते थे गप्पे मारे शास्त्रार्थ हो रहा है और हाथियों घूमते रहता स्वाभाविक जान कर नहीं इसे कहते न द्रुतम न विलम्बितम प्रद्या छोटी काम यावत जितने समय में वापस छोटी काम में वापस आओगे धन मात्रा तावन मात्रे उतरे काल का नाम एक और शुक्ल चुर्वेदी प्रातिशाख्य ग्रंथ में मात्रा का लक्षण किया व्याकरण के लिए यही है लगभग कालीन यावता पानी परियेति जान मंडले सा मात्रा कवि भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्रते मता काले न यावता यावता काले न जितने समय में पानी मने हाथ आपको तो कहाँ घूमेगा पर ये तीजान मंडल है सा मात्रा कभी भी प्रोक्ता विद्वत ज्ञानी गणों के द्वारा बात कही गई है उस काल का नाम मात्रा है जिसके आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्रोटीमता ह्रस दीर्घ प्लुत का निर्णय होता है कोई भी लक्षण लीजिए बात एक ही है शब्दावली भिन्न है शुक्ल चतुर्वेदी लीजिए चाहे योग या ज्वल संहिता के आदर्श लिए जो भी हो वो मात्रा का लक्षण है ऐसे बारह मात्राओं का नाम अधम प्राणायाम चौबीस मात्राएं मध्यम छत्तीस मात्राएं उत्तम प्राणायाम माना गया उसका उद्घाट का लक्षण क्या है प्राणेन उत्सर्प्यमाणेन अपान पीड्यते यदा गत्ता चोर्धम निवर्तेत एतद उद्घात दो सौ छिहत्तर प्रश्न ही है उद्घात जो है का लक्षण कर रहे हैं प्राणेन उत्सर्प्यमाणेन गमन करता हुआ घूमता फिरता हुआ जो चलता फिरता हुआ जो प्राण के द्वारा अपान पीड़ते यदा जब अपान को पीड़ित कर देते अपान कहा होता है नाभिक अधो द प्राण यहाँ से गया जा करके जब तक अपान से टकराता नहीं उतना समय गत्ता धम निवर्ते तो जाने के बाद वापस उर्द की ओर लौटा ये पूरा समय का नाम एक उद्घात एक उद्घात लक्षण उद्घात नाभिमूलात प्रेरित वायो शिरस्य दूसरा लक्षण है उद्घात उसे कहते हैं जो ना भी से निकला और सर में जाके मूर्धा में जाकर टकरा जाए जितना समझ के लिए लगता है उसका नाम जो है मूर्छा प्राणायाम में प्रयोग होता है उसका नाम ही है मूर्छा प्राणायाम श्वास लीजिए और वो लेकर के ऐसा ऊपर छोड़ना है कि छोड़ते हो तो प्राण केवल नाक से निकलना नहीं है मूर्धा को टकराते हो नाक से आनी चाहिए उस प्राणायाम में जाकर के इसको दूसरा के उद्घात का लक्षण करता है और सामान्य के लिए पहला वाला लक्षण खैर ये हो गया प्राणायाम का विभिन्न विचार लेकिन प्राणायाम की संख्या एक 24 घंटे के अंदर अधिक से भी कितनी कर सकते हैं आप कितना करना चाहिए उसे ज्यादा कभी नहीं मानव शरीर में रहकर अधिकतम संख्या 24 घंटे के अंदर प्राणायाम का कितना है वो हट योग प्रदीपी का आकार निर्णय देते हैं शनि अशीति पर्यतम चतुर्वारम समे से धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते जब समर्थ समर्थ हो जाओगे तो अस्सी प्राणायाम एक बार और ऐसे चार बार 320 प्राणायाम के अलावा उससे ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए अशीति पर्यंत अशीति मैंने अस्सी पर्यंत जाओ और वह भी चतुर्वार चार बार संस्कृत किया चौबीस घंटा समय तो दिन भर लग गया उल्टा पागल उगल हो जाएगा तीन सौ बीस से ज्यादा नहीं और से पहले शनि कह दिया विशेषण मेरे इसका मतलब पहले आपको सम्यक अभ्यास सीखना पड़ेगा जो बताया गया पितृवृत से युक्त छत्तीस मात्राओं से युक्त उस छत्तीस मात्रा में तीन बार सम्यक सस्वर पूर्ण गायत्री उच्चारण करने की क्षमता जब आ जाए उसके बाद आने के लिए कई महीने लग सकते कईयों को कई साल लग सकता है वह सामर्थ्य को प्राप्त कर अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है बात के विचार किसी जल्दी हो जाती है लेकिन उसके बाद फिर उसकी संख्या बढ़ाना पहले संख्या को करना महत्व नहीं देना है पहले प्रक्रिया को महत्व देना प्रक्रिया पर ध्यान देकर सम्यक प्रकार से एक बार भी प्राणायाम हो जाए एक दिन में धन्यवाद उसके बाद धीरे धीरे इसको पढ़ाए नहीं तो जैसे बताया था ना एक महात्मा है तो बड़ा परेशान है वही हाल हो जाएगा संख्या को महत्व दिया उन्होंने पढ़ लिया अस्सी करना चाहिए वो अस्सी करने लग गया कर भी लिया लेकिन सब गलत गलत करने से क्या फायदा हम एक करें लेकिन सही ढंग से छत्तीस मात्राओं में संपन्न हो समित प्रकार से पूर्ण गायत्री उच्चारण के साथ हो और उस गायत्री माता का ध्यान हो जाए मंत्र ध्यान प्राण इन तीनों का संयम हो जाए वह सफलता प्राप्त कर सको वह सफलता से एक प्राणायाम भी हो जाए उसका जीवन सार्थक हो जाए नित्य से हो जाए धीरे धीरे बाद में देखा जाए संख्या बढ़ाना ये तो कहा दिए अस्सी और तीन सौ बीस एक दिन में लेकिन शुरू में एक करने का प्रयास तो शहीद कुंभक का बारे में इस तरह विस्तृत विचार कर लिया और अब केवल कुंभक के बारे में आरंभ करते हैं योग सुप्रकार बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ बाह्य और आभ्यंतर विषयों का आक्षेप करने वाले का नाम चौथा है पहले आपने बीच में देखना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और तीसरा उसमें क्या होता है अचानक करते कुंभक न जो जाए जैसा वैसे रोक न कुंभक करके कर रहे हैं न रेचे करके कर रहे हैं ना पूरा करके करते हैं जान के करना पहले वाले के साथ जो तो तीसरे में आया तो समवर्ती वो दोनों नहीं प्रक्षर में विधारणाभ्याम पहले दो है तीसरा समवृत्ति है चौथा यह है जिसको केवल कुंभक कहते देश काल संख्या और वायु विषय परिदृष्ट आक्षिप्ता भाष्यकार कहते हैं देश काल और संख्याओं के द्वारा बाह्य विषय परिदृष्ट होकर के आक्षिप्त हो जाता है उसका अतिक्रमण करते हो जाते हो जब देश काल संख्या द्वारा बाह्य वृत्ति जो बाह्य विषय में बाह्य वृत्ति जो प्राणायाम और परिदृष्ट होने पर अभ्यास पटुता को प्राप्त होने पर आक्षिप्त में अभ्यास में पटुता आ जाए उसका अतिक्रमण करके और आगे बढ़ने की क्षमता आ जाए तब तथा इसी प्रकार से आभ्यंतर विषय मैंने आभ्यंतर वृत्ति वाला वह भी कैसा हो विषय प्रदृष्ट देश काल संख्या विरेव देश काल संख्या के द्वारा सम्यक प्रकार से आभ्यंतर वित्त प्राणायाम भी आक्षिप्त हो जाए अर्थात तो उसको अतिक्रमण करने की क्षमता प्राप्त हो जाए तब क्या होता है कहते हैं तत्पूर्व उभय था दीर्घ सूक्ष्म दोनों प्रकार की दीर्घ सूक्ष्मता को पहले प्राप्त करना पहले केवल रेचक और केवल यह पूरा इन दोनों को ठीक करो कुंभक को भूल जाओ पहले तो ये दो सही आनी चाहिए जितनी मात्रा में है उस हिसाब से पहले रेचक और पूरक सही हो जाए फिर को भूमि जयात तत्पूर्वक ही भूमि जय से क्रमेण उभयोर गत्य भाव उन दोनों के गति का भाव कर देने का नाम चतुर्थ प्राणायाम प्राणायाम होगा और तीसरे में और चतुर्थ में अंतर क्या है दोनों में तो अवरोध है दोनों में अवरोध है लेकिन तीसरे और चौथे फर्क समझा रहे तृतीय तो विषय अनालोचित वहाँ पर बाह्य वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति नहीं था तीसरे स्तंभ वृत्ति प्रणय में बाह्य और आभ्यंतर लेना छोड़ना सब भूल करके आप कर रहे हैं झटित हो जाता है और ये ऐसा नहीं उनके साथ उनको उनके सहित करने इसलिए बाह्य और आभ्यंतर दोनों विषयों को आलोचित करके जो होता है अनालोचित गति भाव तीसरा था सकृत आरभ इसे कहा सकृत आरभ लेकिन देश काल संख्या परिदृष्ट हो दीर्घ सूक्ष्म लेकिन उसमें भी आप देश काल संख्या परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म तक पहुंच सकते हो लेकिन चौथे में बात नहीं है चतुर्थ तो श्वास प्रश्वास और विषयावधारणा श्वास प्रश्वास उनका बाह्याभ्यंत वृत्ति रेच पूरक का भी सम्यक उदाहरण के साथ क्रमीण भूमि जया क्रम से भूमि जय करता हुआ उभयाक्षेप पूर्वक उभयाक्रमण पूर्वक गत्य भाव होता है वो चतुर्थ प्राणायाम उन्हें पूरक करो फिर कुंभक फिर रेचक फिर कुंभक ये जो होता है आपका वह चौथा है और जो स्तंभूर्ति है वो वह पूरक है न रेचक है उसे पूर्व में हो उसका नाम अनुलोम प्राणायाम और विलोम प्राणायाम अनुलोम प्राणायाम विलोम प्राणायाम स्तंभवृत्ति प्राणायाम जिसमें जो है केवल कुंभक मात्र सीधे लग गया लगा दिया जाता है किंतु इसका नाम केवल कुंभक करके उसका नाम स्तंभवृत्ति है क्योंकि यहाँ आप महत्व कुंभक मात्र का है चौथे महत्व कुंभक का है रेचक पूरक का नहीं यदि रेचक पूरक पूर्व के द्वारा ही किया जाता है प्रेक्षक पूरे किए बिना नहीं किया जाता इस कुंभक को लेकिन यह कुंभक उसके द्वारा होते हुए भी मत इसका है कुंभक केवल रेचक का मत अनुलोम में केवल जो है जो है पूरा जो विलोम में और दोनों के बिना होता है जो उसका नाम समवृत्ति दोनों सहित जो होता है उसका नाम केवल कुंभक इनसे होता क्या है निद्रा तंद्रादि दोष युक्ता नाम पूर्वोक्तर रेचकादि त्रयाणाम अपेक्षा दोष रहित चतुर्थ ये जो चौथा है ये सर्वदोष रहित कुंभक है केवल अनुलोम करोगे केवल विलोम करोगे या वृत्ति करोगे उनमें दोष अनेक प्रकार निद्रा दोष आ सकता है तंद्रा दोष हो सकता है रजा दोष हो सकता है अनेक प्रकार के दोष की संभावनाएं होती है वो सब प्राणायाम वास्तव में अधूरी प्राणायाम पूर्ण प्राणायाम तो ये चौथा वाला ही है जिसे पूरक अंत कुंभक रेचक बाह्य कुंभक चारों से युक्त को ये चौथा वाला जो कहा गया जिसे कुंभक की प्राधान्यता होती जाती है संख्या जो परिदृष्ट होता है या देश प्रदृष्ट या काल प्रदृष्ट है उसमें कुंभक की मात्रा बढ़ती जाती है शुरू में एक एक एक एक या एक दो एक एक करेंगे एक दो एक दो करेंगे कुंभक का समय बढ़ता है कुंभक का देश बढ़ता है कुंभक का काल बढ़ता है <clears throat> वो जो चीज होता है उसका नाम चौथा यही वास्तव में पूर्ण प्राणायाम है इसमें कोई दोष होने का सवाल नहीं है इस अन्य समस्त प्राणायाम में निद्रा तंद्रा दोषुक्ता नाम पूर्वोक्त रेचकाज नाम अपेक्षा दोष रहित हो वयम चतुर्थ प्राणायाम ये चौथा प्राणायाम इसलिए महत्वपूर्ण प्राणायाम आरेच्या पूर्यवा पूर्या सही सहित कुंभक रेचगम भूरगम त्यक्ता सुखम यद्वायुधारणम धारणम इत्युक्त सवई केवल कुंभक योग वार्तिक सार है वो कहते हैं आरिच आपूर्य कुरिया आरेचन और आपूरण करके जो किया जाता है उसके एक नाम से कुंभक की है और रेचगम पूर्गम त्यक्वा जो किया गया सुखम यद्वा धारणम जो जैसा वैसे ही धारण कर लेना उसका नाम स्तंभ वृत्ति है प्राणायाम अयम यही प्राणायाम की विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है सगल शास्त्रों में जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो अंत वाला है जिसको केवल कुंभक कहा जाता है जिसे कुंभक के महत्व अधिक है अमृत नाद बिंदु उपनिषद में ये बात संकेत किया है रुचिरम रेचकंच वायोराकर्षण तथा अमृतनाथ उपनिषद मंत्र संख्या नौ रुचिरम रेचक वहां रुचिर शब्द का अर्थ होता है कुंभक कुंभक वाची रुचिर शब्द कुंभकम रेच रेचकम चैव अतिक्रम तक पूरा कहा जाएगा वही वास्तव में वायु का आकर्षण प्रक्रिया है अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया है ऐसे अमृतनाथ बिंदु परिषद में भी इस बात को कहा गया है इस विषय में अंत वाले के महत्व और महात्म्य का वर्णन शांति पर में देखने लायक है बहुत सुंदर कई श्लोकों में है किस प्रकार से इस अंतिम वाले को सिद्ध किया जा सकता है जो पूर्ण प्राणायाम है आहार कीदृशान कृत्वा कानिजित्वा च भारत योगी बलम अवापनोती तद भगवान वक्त मर्ती दो सौ इक्यासी प्रश्न में युधिष्ठिर पूछता है भीष्म महाराज से आहार कृपा किस प्रकार के आहारों का करनी चाहिए कानिच जीतवा किन विषयों को जीत करके योगी अपने योग बल को प्राप्त करेगा भीष्मवाच भीष्म महाराज कहते अरे भाई ये तो बड़ा कठिन काम तुम पूछे हो कर सको न करो क्या है वो नाम भक्षण युक्त पिन्या कश्य भारत स्नेहान वर्जने हो योगी बलम अवाप्तया कहते हैं कणा नाम भक्षण युक्त किसके पुण्याक कणा नाम पुण्याक नामक वृक्ष का कणों को खाना चाहिए तात्पर्य वड वृक्ष का बीज को खाते चाहिए वड वृक्ष का बीज उसको खाना है और घी के बिल्कुल मना है अरे यार तो घी के बिना क्या रोटी खिलाया महात्मा बिना घी स्नेहान वर्जन युक्त तो। योगी बलम अवापनियात वही योगी वास्तविक अंतर बल को प्राप्त करता है शरीर बाहर से दुर्बल होता है लेकिन उसका यौगिक बल जो है ना प्रबल हो जाता है गुंजानो यावकम रूक्षम दीर्घ कालम अरिंदमा एकाहार विशुद्धात्मा योगी बलम अवापनुया भुंजानो यावकम वृक्षम भुना हुआ चना जऊ भी रोक्षम ये नहीं तो सब बाद घी में तल दो बढ़िया बना लो है या से डाल के मीठा डाल के चकाचक बना रहे हैं कद्दू वगैरह खा रहे ये नहीं रूक्षम एवं यावत मैंने जैसा भुना हुआ है तो वैसे ही इसलिए खाना है उसे कुछ मिला जुला के नमक मसाला छोंग छांग करके नहीं दीर्घ कालम मरिंदमा कहता है दो चार दिन कर लिया हफ्ता भर की तपस्या नहीं है ये दीर्घ कालम हे अरिंदमा हे युधिष्ठिर बहुत लंबे समय करना पड़ता है एक हार विशुद्धात्मा योगी बलम अभाप्रिया ऐसा जो विशिष्ट अंध करण वाला योगी एक आहार रहेगा अनेक आहार वाला नहीं होगा है ना और ऐसे भी ये भू आहार वाले जब जो मिल जाए स्वाहा स्वाहा स्वाहा चौबीस घंटा मिल जाए तो भी तृप्त नहीं हो सकते हाँ? आहार योगी इसका नाम रखा जाएगा आहार योगी भंडारा योगी श्राद्ध योगी श्राद्ध खाने में मास्टर श्राद्ध योगी और पक्षान्मासन ऋतु चैतान संवत्सरान्न तथा अपह पीवा पयो मिश्रा योगी बलम अवापनिया एक पक्ष एक मास एक ऋतु अद्वैत संवत्सर दिन दिन मात्र में केवल अह एव पया पयो मिश्रा अपह पयो मिश्र आपको को पी करके भी रहता है जो वह भी योग्य बल को प्राप्त कर विभिन्न साधन बता रहे हैं अनेक प्रक्रिया अखंडम अपिवासम सतम मनुजेश्वर उपोष सम्यक शुद्धात्मा योगी बलम अवापनिया पहले साप्ताहिक कार्यक्रम बता दिया पक्ष में अमुक अमुक दिन केवल लेगा अथवा एक महीने का हर सोमवार करेगा व्रत करते ना वार व्रत वगैरह उस हिसाब से निर्णय ले एक साल तक मैं इतना दिन करूंगा और दूसरा पक्ष है अखंड मास एक महीना लगातार हफ्ता में एक दिन दो दिन नहीं प्रत्येक दिन एक महीना लगातार अखंडम विवाह मासम सततम मनुजेश्वर हे मनुजेश्वर हे मनुष्यों का राजा युधिष्ठिर सुनो ऐसा जो करने वाला योगी होता है सम्यक शुद्धात्मा योगी बलम अभापनिया सम्यक अंत देता दृश्य योगी वह भी बल को प्राप्त करता है तो पूर्वोत्तर विचार करने से ये लगता है ना कि केवल सीधे ही आप आसन प्राणायाम में घुसने से काम चलता नहीं जो गीता का श्लोक है वह योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाह्य ज्ञानेन्द्रियों का आहार इंद्रियों के आहार अंतकरण के आहार बाह्य इंद्रियों का विहार हर चीजों में संयम के बिना न आसन सिद्ध होगा न प्राण ये सारे चीजों का आधार जैसे श्लोकों में आप देख रहे हैं कि हर चीज में संयम की अपेक्षा है ऐसे भी योगी देखा जाता है सिगरेट पी रहा और योगी भी है अब क्या उसको पता है समझाने से फायदा ही नहीं इधर पहले तो योगाभ्यास खूब किया और छाती को स्वच्छ किया सब कुछ किया उसके पास धुआं भर दिया है ऐसे अगरबत्ती जलाने से काम चलेगा नहीं समझना चाहिए आदमी तो हर चीज में इसलिए संयम की अपेक्षा है सारी चीज संयम इससे क्या फल मिलेगा साधन हो गया विचार हुआ सिद्ध कैसे होगा लेकिन फल क्या है तदक्षीयते प्रकाशावरणम तथा एकादश प्राणायाम का अभ्यास है प्रकाश का आवरण जो था वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा विवेक शक्ति प्रबल होता है स्फूर्ति शक्ति बढ़ती है धृति शक्ति बढ़ती है मेधा शक्ति भी बढ़ती है प्राणायाम की विशेषता है विवेक स्फूर्ति मेधा धृति प्रज्ञा ये पंच शक्तियों का वर्धिका है प्राणायाम और इन पंच शक्तियों की वृद्धि के बिना ज्ञान में प्रवेश करना असंभव है क्योंकि आदि देखता हो ना गद्य महाराज दो दिन पहले पढ़ाया था आपने नहीं भूल गया क्यों भूल जाता है दो दिन पहले का भूल गया एक दिन पाठ मैंने आगे पूछा हाँ करने लगते हैं कल नहीं आया था ना बोलते हैं अरे भाई क्या बात है, है? कैसे ब्रह्मचारी कैसे महात्मा समझ में नहीं आता है, है? बीस साल से रोज तो हम लोग वही सारे ग्रंथ पढ़ते हैं क्या नहीं याद रहता है कि नहीं रहता है कैसे रह जाता है अंतकंड शुद्धि की अपेक्षा है उसके लिए सब करना पड़ेगा और करना धरना कुछ है ही नहीं केवल घर द्वार से खाए पिए सोए और सीधा व्याकरण थोड़ा लघु पढ़ ले और आचार्य हो जाए वेदांति हो जाए ऐसे थोड़े होगा इन चीजों से जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है जिसके लिए आप लोग घर द्वार छोड़ा करना जरूरी है जानने से नहीं होता करने से होता है उसके लिए जोर देते हैं तभी जाके प्रकाश का जो आवरण है ना वो आवरण क्षीण होता है तथा मैंने प्राणायाम प्राणायामान अभ्यस तो असी योगी प्राणायामों को अभ्यास करता हुआ जो योगी है उस योगी के विवेक ज्ञानावरणीयम क्षीयते कर्म विवेक ज्ञान के आवरण भूता जो कर्म था वह कर्म क्षीण हो जाता है विवेक ज्ञान विवेक से ज्ञान विधि विवेक ज्ञान न्याय त्याने नहीं विज्ञान यहाँ पर कर्ण वित्पत्ति करना विवेक ज्ञान का कोई आवरण नहीं है विवेक ज्ञान के साधनों का आवरण करना अब बिजली हो लाइट चल रहा है लेकिन उसके ऊपर आपने कपड़ा टांग दिया तब क्या होगा प्रकाश का दोष नहीं है न बिजली का अभाव है अति विवेक ज्ञान तो सदा प्रकाशमान होता है उसे क्या गड़बड़ी है नहीं उस ज्ञान का अभिव्यक्ति के जो साधन था प्रज्ञा शक्ति दृढ़ शक्ति मेधा शक्ति स्फूर्ति शक्ति वगैरह वे शक्तियां आवर्त हो चुकी है वो तो कुंठित हो गई है अकुंठित नहीं विकुंठित होना जरूरी है उसको विकुंठा विगतो कुंठा भाव ये सा विकुंठा थी वैकुंठ लोग कहते कहीं और ऊपर होगा वैकुंठ लोग कहीं नहीं है वैकुंठ तुम्हारे अंदर ही है वैकुंठ जो है आपके अपने भीतर कहीं बाहर नहीं कुंठा क्या है अविद्या ज्ञानम यदा तद विगता सदैव तदेव स विकुंठ यदेव विकुंठ तदेव वैकुंठ स्वार्थ गण कर यह विद्या का ही नाश होना विकुंठता है और कुंठता क्या है तीसरा विद्या है अविद्या की महिमा से ये सारी शक्तियां आपका दबी हुई सी रहती है इसलिए कहते हैं उस यहाँ ज्ञान शब्द से लेना इसलिए न्याय जिसके साथ द्वारा आप अपने विवेक आदि का अनुभव कर पाते हो उसका आवरण जितने भी ताप कर्म है या पुण्य कर्म भी आवरक होता है पहले कह चुके ना सर्वम में वह अक्ष कल्पो दिशा कहा योगी के लिए तो सबको जो पुण्य भी पाप भी सारा का सारा बाधक सर्वम दुखम एवं कह दिया तो योगी न क्षीयते इसलिए यदाचते इस विषय में कहा भी है कौन पंचशिखाचार्य जी ने महामोह मयेन्द्र न प्रकाशशीलम सप्तम आवृत्य तदेव अकार्य नियुक्त न महामोह महामोहमय है यह इंद्रजाल के समान इंद्रजाल है जगत का समस्त विषय है जिसके द्वारा प्रकाश स्वभाव वाले अपने सत्व को आपने आवृत कर लिया है और तदेव यह पाप कर्म ही ऐसा है जो आपको क्या कर रहा है अकार्य नियुक्त अकार्यों में नियुक्त कर दिया कार्यों से दूर करके अकार्यों में डाल दिया कार्य और अकार्य का निर्णय शास्त्र से होता है तस्वा छात्र में प्रमाण थे कार्याकार्य व्यवस्था और अकार्य में ही घुसा देता ये तो कहता वो भी बेचारा दुर्योधन भी क्या करो मैं जानता सब हूँ लेकिन करता वही हूँ जो गड़बड़ होता है तो नहीं करना चाहिए वही करता हूँ अकार्य में नियुक्त कर रहा है कारण क्या है आवृत हो चुका है अंतकरण भाई शब्द ज्ञान जो है ना कोई काम का नहीं आया उसमें फायदा नहीं हुआ शब्द ज्ञान बहुत अच्छा पंडित विद्वान था वो रावण से पढ़कर कोई विद्वान मिलेगा और काम उसका सब उल्टा था छाया भी शापवश हो कुछ भी हो लेकिन शिक्षा से क्या होता है कि शब्द ज्ञान कभी भी आपकी रक्षा नहीं कर सकती है जब तक वह आचरण में न आवे इसे का धर्मो रक्षति धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है पढ़ लेने से मात्र से धर्म आपकी रक्षा नहीं करता है कर रहे होगे तभी रक्षा कर धर्म और रक्ष की रक्षिता तदस्य प्रकाश आवरण कर्म इसलिए प्रकाश का आवर्ग जो कर्म है संसार निबंधनम जो संसार का कारणीभूत कर्म है उनको प्राणायाम याम अभ्यासात दुर्बलम भवती प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे दुर्बल हो जाते हैं प्रतिक्षण चक्षीयते और धीरे धीरे धीरे अक्षय को प्राप्त हो जाता है तथा चौथम इसे कहा गया न परम प्राणायाम तो मला नाम दीप्ति ज्ञान सीधी प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है क्यों कि मलों का विशुद्धि यही करता है और ज्ञान का दीप्ति भी यही प्रति देता है जिसलिए मलों को दूर करता है और ज्ञान को प्रकाशित कर डालता है इसलिए प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है ओम